और मदियन की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा उन्होंने कहा ऐ मेरी कौम के लोगों अल्लाह की इबादत करो उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक रोशन दलील आ चुकी है लिहाजा नाप तोल पूरा पूरा किया करो और जो चीज़ें लोगों की मिल्कियत में हैं उनमें उनकी हक तलफी ना करो और ज़मीन में उसकी इसलाह के बाद फसाद बर्पा ना करो लोगों यही तरीका तुम्हारे लिए भलाई का है अगर तुम मेरी बात मान लो